बाप नंबर नौ ओए तूने बत्तियाँ वत्तियाँ नहीं लगाई सरफराज ने पूछा चुप कर यार शुएब बोला पापा का मिजाज गड़बड़ है क्यों शर्फी कल रात आया था बकरा वो तो कराची में था मुल्तान आ गया है गुड गुड कहाँ यार उसने काम ख़राब कर दिया है क्या हुआ तुम्हें पता ही है शुएब ने कहा ड्रिंक लेके आया था पापा ने सुबह मेरे दराज में खाली बोतल देख ली पापा तेरे दराज में क्या देख रहे थे same damn paper I don't know फिर क्या बोले यही तो मुसीबत है बोलते बोलते कुछ नहीं मुंह फुलाकर चुप साध लेते हैं और फिर आप सबको सांप सूंघ जाता है हैं और क्या झाड़ू वाड़ू पिला दें तो मतला साफ़ हो जाए वो तो आँख मिलाना तक बंद कर देते हैं और बहाने बहाने से नौकरों पर बरसते रहते हैं साइकोलॉजिकल प्रेशर है psychological vychological but it's a pain in the wrong place फिर क्या हो रहा है प्रोग्राम कैंसिल वाओ क्या मजाक है मेरी टूटनी फर्स्ट है कैंसिल किस खाते में कुछ बता तो सही देखते जाओ चाय पियो चेंज करो और चलो कहाँ मैस मैं मैस में अरेंज किया है हाँ शुएब अलमारी में लटकी हुई दो दर्जन टाइयों को टटोलने लगा उसने दो एक टाइयों के सिरों को बराबर लटकते हुए सूटों से मिलाकर देखा फिर एक टाई खींच कर निकाली और उसे कंधे पर लटका लिया दूसरे हाथ से उसने सारी टाइयों का हैंगर निकाला और उसे लापरवाही से अपने बिस्तर पर फेंक दिया जिसके बराबर बिछी कुर्सी पर सरफराज बैठा था टाइयाँ एक दूसरे में उलझकर गुडमुड हो गईं चूज़ कर लो शुएब ने कहा मेरे पास हैं सरफराज ने कहा तेरी मैंने देख रखी हैं हम्म, सरफराज ने नफ़ी में सर हिलाया यानी तुमने नहीं खरीदी हैं सरफराज हल्की मुस्कुराहट लिए उसे देखता रहा अच्छा आ शुएब बोला अब तूने टाइयाँ ख़रीदनी शुरू कर दी हैं ज़रा देखूँ तो सही अपने काम से मतलब रख सरफराज ने जवाब दिया शुएब का मुलाजिम इदरीस चाय लेकर आ गया उसने सरफराज के आगे रखी तपाई पर बर्तन लगा दिए साफ इस्त्री के लिए कोई कपड़े सरफराज ने अपने साथ ज़मीन पर रखा बैग खोला और अपना सूट निकालकर उसे दे दिया सूट के साथ टाई थी जिस पे सिलवटें नज़र आ रही थी मुलाजिम कपड़े लेकर पलटने लगा तो शुएब ने उसे बाजू से पकड़कर रोका और उसके हाथ से टाई लेकर देखी फिर हंसकर वापस कर दी एम एस तू पेंडू का पेंडू ही रहा तुझे क्या एतराज़ है सरफराज चाय बनाता हुआ बोला यह टाई सूट के साथ मैच नहीं करती मेरी टाइयों से चूज़ कर ले चुप रह मेरी टाई ठीक ठाक है मेरा क्या जाता है फिर ना कहना कि लड़कियां मखोल करती हैं शुएब उसके लहजे की नकल उतारते हुए बोला लड़कियां हाँ लड़कियां ये मखलूक कभी देखी है नहीं सरफराज हंसकर बोला कहाँ से आई हैं चीमा अपनी दोस्तों को पकड़ कर लाएगा इदरीस इस्त्री किए हुए दोनों सूट और टाइयाँ एहतियात से उठाए अंदर दाखिल हुआ उसने दोनों सूट अलमारी में लटका दिए ब्रिगेडियर साहब क्या कर रहे हैं शुएब ने दरीज से पूछा जी चले गए हैं कहाँ चले गए शायद क्लब गए हैं ठीक है जाओ फिर शुएब ने सरफराज से पूछा पापा से मुलाकात हुई नहीं चलो सुबह मिल लेना अगर ज़िंदा उठे तो सरफराज ने कहा उठोगे उठोगे उठोगे नहीं तो तरक्की कैसे करोगे चलो अब कुर्सी से तो उठो तैयार हो जाओ अब जब सरफराज कपड़े बदलकर तैयार हो रहा था तो एक बार फिर उसका दिल उछलना शुरू हो गया था मैस में शर्फी नारा मारकर सरफराज से मिला मैंने तेरे करली का इलाज ढूंढ लिया है उसने बियर पी रखी थी जिसकी भू को दबाने के लिए वो पेपरमेंट चूस रहा था और साथ ही हंस हंस कर दूरा हो रहा था क्या इलाज है सरफराज ने पूछा ऊँट हाँ हाँ ऊँट ओहो क्या ऊँट ऊँट लगा रखी है सीधी बात कर सरफराज ने कहा ऊँट की ओहो हंसते हंसते शर्फी के मुंह से बात ना निकल रही थी ऊँट की लिद का लेप उसे अच्छू लगा और खांसते खांसते उसका दम रुकने लगा आसिफ गोल्ड बरकी नेवला और शौकी बांडे उसके गिर्द खड़े थे वो तो सूखे हुए गोले होते हैं शर्फी आसिफ बोला लेप कैसे बनाता है यार पूरी रेसिपी तो सुनो शर्फी ने अपनी हंसी पे काबू पाते हुए कहा कंवारी ऊँटनी के पेशाब में नर ऊँट की लिद ओहो आहा हा उसे एक बार फिर हंसी का दौरा पड़ गया रेजिमेंटल मेस में अकब की जानब दो छोटे कमरे पार्टी के लिए रिजर्व थे एक कमरे में दीवारों के साथ साथ 20-25 कुर्सियां बिछी थीं कुल 10-12 नौजवान अफसर मौजूद थे तीन फौजी वर्दियों में और बाकी हल्के सूटों में मलबूस तीन तीन चार चार की टोलियों में खड़े महजब अंदाज में खुशकपियाँ कर रहे थे सिर्फ दो कुर्सियों पर सरफराज और शर्फी बैठे थे जबकि उनके तीनों सामीन सामने खड़े थे सारे कमरे में सिर्फ शर्फी बकरा ही आपे से बाहर होकर ऊंची आवाज़ में बोल रहा था आजमाया हुआ नुस्खा है उसने हंसी दबा कर कहा किस पे आजमाया है बरकी नेवले ने पूछा शर्फी की चाची का दादा गंजा था आसिफ गोल्ड ने कहा हाँ शर्फी बोला अस्सी साल की उम्र में उसके बाल निकल आए थे ओए असगर करली के हत्ते कभी चढ़ गया तो तेरा हुलिया दुरुस्त कर देगा बरकी ने कहा बड़ी कुत्ती चीज़ है okay stop it man Sarfaraz नीम संजीदगी से बोला मेरा ओसी है तू भी अपना सर शेव करवा ले करली खुश हो जाएगा शुएब मुख्तफ टोलियों के पास रुकता उनसे मिलता मिलाता हुआ उधर आ पहुंचा जहां शर्फी मंडली लगाए हुए बैठा था शर्फी का शोर सारा कमरा सुन रहा था मगर उसकी आदत के मामूल को जानते हुए सब वक्फे वक्फे पर नीम महजूज अंदाज में उस पर निगाह फेंक कर फिर अपनी बातों में लग जाते थे शर्फी शुएब मसनू गुस्से से बोला कल तूने मुझे ट्रबल में डाला आज हम सब के लिए मुसीबत खड़ी करोगे कंट्रोल योर सेल्फ ओ लम्बू बॉटल लाना मेरा काम ख़त्म करना मेरा काम गायब करना तेरा काम वह तूने अचार डालने के लिए संभाल कर रखी हुई थी कैप्टन इफ्तार ने बाहर से झाँक कर देखा और दरवाजे पर हाथ रखकर अटका रहा कॉन्ग्रेचुलेशंस उसने शुएब से कहा आइए आइए सर शुएब दरवाजे की तरफ जाता हुआ बोला आइए ना आई कैंट कैप्टन इफ्तार काफ़ी सीनियर था और कुछ अरसे के लिए एकेडमी में शुएब और सरफराज के बैच का इंस्ट्रक्टर भी रहा था सर आपको पता है क्या हो रहा है शर्फी ने कमरे में चारों तरफ इशारा करके पूछा भाई मुझे तो इनविटेशन ही नहीं मिली मगर तुम जानते हो इन्फॉर्मेशन पूरी रखता हूँ नहीं सर आपको असल हकीकत का इल्म ही नहीं है शर्फी बोला लम्बू की चालीसवीं सालगिरह हो रही है उसने मैट्रिक के सर्टिफिकेट में उम्र कम लिखवाई थी कुछ देर पहले पार्टी में कैप्टन दिलावर पहुंच चुका था जो शुएब का कंपनी कमांडर था उसे देखकर शर्फी और सरफराज कुर्सियों से उठ खड़े हुए थे हेलो इफ्तार उसने पुकार कर कहा कैप्टन इफ्तार ने हाथ हिलाकर उसे जवाब दिया और उंगली से शर्फी की जानब इशारा करके शुएब से बोला tie them up with a rope round the ankle हम रस्से का इंतज़ाम कर रहे हैं सर शुएब ने जवाब दिया and keep a piece of cake for me definitely sir mess के आबदार और अफसरों के बैटमैन ठंडे शरबत के गिलास ला लाकर पेश कर रहे थे शोएब फिरता फिराता हुआ अगले कमरे में दाखिल हुआ जहाँ सफ़ेद वर्दी वाले मैस के मुलाजिम चाय के बर्तन पॉलिश कर करके सजा रहे थे शुएब मेज़ के पास रुक कर उन्हें छोटी बड़ी हदायत देता रहा फिर जाकर पिछले दरवाजे में खड़ा हो गया पतलून की जेबों में हाथ दिए वो वहाँ पर रुका बेख्याली से बाहर अंधेरे में देखने लगा सरफराज जो पहले कमरे में चल फिर रहा था लोगों के पास रुकता उनसे एक आध बात करता हुआ दरमियानी दरवाजे में जा खड़ा हुआ अकबी दरवाजे में कड़े शुएब की पुश्त उसे नज़र आ रही थी उसका दिल धक धक करने लगा उसे इल्म था कि अभी कुछ देर में नसीमा अपने ग्रुप के हमरा इसी दरवाजे से दाखिल होगी उसकी पीठ पे लोगों की गुफ्तु की मिली जुली झुंझुनाहट और बीच बीच में चरफी की बेसाख्ता हंसी की आवाज़ उठ रही थी वो ध्यान हटाने को कमरे में दाखिल होकर चुपके से बड़ी मेज़ के पास जा खड़ा हुआ और एक चीनी की खाली प्याली को उठाकर बिजली की रोशनी पर मुनकस बल्ब में नज़र जमा कर सोचा तो मैं उससे क्या कहूँगा इतने लोगों के बीच मैं कैसे कदम बढ़ाकर उसके करीब जाऊँगा मेरी बारी कब आएगी इतने पूरे तमाद खुश शक्ल आला शहरी बैकग्राउंड वाले लड़कों के सामने मेरी क्या हैसियत है सरफराज पेशावरी की हद तक फ़ौज के हलके में किसी से मरूब ना होता था मगर ये एक मुख्तलिफ मामला था उसे एहसास था कि वो अपनी तबीयत अपने तजर्बे और अपने मखसूस तबके का कैदी था जिसकी बिना पर वो खेल शुरू करने से पहले ही हार चुका था मगर अपने दिल का क्या करूं? उसने सोचा उसने प्याली मेज़ पर रखी तो उसका हाथ डरा कप कपा रहा था जिससे प्याली तश्तरी के साथ टकरा कर कटकटाई शुएब ने पीछे मुड़कर देखा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सरफराज के बराबर आ खड़ा हुआ उसने मुस्कुराकर सरफराज को देखा और प्याली के किनारों पे उंगली फेरने लगा गोया बात करने की ज़रूरत ना समझता हो एक लहजे के लिए दोनों कमरों में मुकम्मल खामोशी हो गई फिर दूसरे कमरे में एक शोर उठा सरफराज और शुएब को एक अजीब मंजर नज़र आया दरमियान वाले दरवाजे में दो स्पॉट बूट हवा में लहराते हुए दिखाई दिए जो बेसहारा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते आ रहे थे फिर दो टांगे उल्टी हवा में उठी हुई सामने आईं जिनकी पतलून घुटनों तक गिरी हुई थी और जराबों के बाद पिंडलियों की दो दो इंच जिल्द नज़र आ रही थी जिसपे घने स्याह बाल थे ओ माई गॉड शुएब ने कहा oh my god it is ham again Sarfaraz हंस पड़ा शर्फी अपना खेल दिखा रहा था वो हाथों के बल चलता हुआ पैर और कोहनियाँ समेटे दरवाजे को पार करके साफ दूसरे कमरे में दाखिल हुआ उसके पीछे पीछे एक बड़ा ग्रुप का गोल था बकब बकरे और ब्रावो का शोर कर रहे थे एक दूसरा ग्रुप आपस में बातें करके कह कहे लगा रहा था शर्फी के बाजुओं में अब हल्का सा इरताश पैदा हो चुका था अगर उसने अपनी मंजिल पूरी कर ली थी दरवाजे से एक फुट आगे निकलकर उसने एक ऐसी कलाबाजी लगाई कि उसके पाँव धप से आगे ज़मीन पर आ रहे और पीछे उसका जिसम उछलकर सीधा सामने खड़ा हो गया चारों हाथों पाँव के सिवा उसका कोई हिस्सा किसी दीवार दरवाजे या ज़मीन से लगने ना पाया था उसका चेहरा लाल बहुटी हो रहा था खड़े होते ही वो पलटा और शौकी के सामने जा खड़ा हुआ कम ऑन पे अप वो बोला जैकेट का एक कोना दरवाजे से लग गया था शौकी ने कहा नॉनसेंस कोई विटनेस कोई ना बोला सब मुंह ही मुंह में हंसते रहे राइट शर्फी ने कहा कोई बहाना नहीं चलेगा पे अप कमान शौकी कैप्टन दिलावर हंसकर बोला यू लवेस्ट उसकी बात सुनकर शौकी ने आखिर कंधे उचकाकर हार मान ली आई ओ यू ओ यू का क्या मतलब है शर्फी ने हाथ बढ़ाए बढ़ाए मुतालबा किया I want cash man I don't carry man Shauki ने नीम संजीदा लहजे में कहा कम कम जेब खाली करो वी आर रॉयल बल्कि एलानिया अंदाज में गोया हुआ रॉयल्स कैश कैरी नहीं करते all right Sharfi captain Dilawar बोला आई ओ यू कोई डिस ऑनरेबल बात नहीं it's a gentleman officer words gentleman officer Sharfi ने बेयकीनी से आंखें फैलाकर सवाल किया सब कह कहा लगाकर हंसे चंद एक ने तालियां बजाईं पार्टी का जमूर टूट गया था अब मदुइन की तादाद बीस के लगभग हो चुकी थी लोग दोनों कमरों में बट गए थे और आज़ादी से गुफ्तु और मजाक कर रहे थे उसी वक्त उकबी दरवाजे पर मचलती हुई कार की रोशनियां गुजरी कुछ हलचल के आसार पैदा हुए कार के दरवाजे खुलने और बंद होने और कुछ लड़कियों के बातें करने की आवाज़ें आने लगीं पहले कमरे वालों को खबर ना हुई मगर पिछले कमरे में एकदम खामोशी छा गई सबकी नज़रें दरवाजे पर लगी थीं नसीमा एक बड़ा सा डब्बा उठाए दरवाजे में नमूदार हुई तेज़ नज़रों से कमरे में चारों तरफ देखकर वो बेसाख्तगी से मुस्कुराई उसके चेहरे से खुशी जाहिर हो रही थी वो कोने में रखी हुई एक छोटी सी तपाई तक गई हाथ में पकड़ा हुआ डब्बा उस पर रख कर वो अपने भाई के पास जा खड़ी हुई और बातें करने लगी सरफराज उससे तीन चार कदम के फासले पर खड़ा था अब पहले कमरे से लोग आने शुरू हो गए थे आसपास हल्के लहजे में गुफ्तगु हो रही थी जिसकी बिन बिनाहट के बीच नसीमा की साफ खनकदार आवाज़ के टुकड़े सरफराज के कानों तक पहुंच रहे थे ट्रैफिक बेकरी नौरीन अब वो ऊपर लगी रंग बिरंगी झंडियों की जानब इशारा करके हंस रही थी उसकी आवाज़ सुनकर सरफराज को एक लहजे के लिए अपने कानों की सनसनाहट के अंदर यूं महसूस हुआ जैसे चारों तरफ खामोशी छा गई है और रात की तारीकी में दूर से बैलों के गले की घंटियाँ बज रही हैं नसीमा ने फैशनेबल किस्म का शोख रंग गरारा पहना हुआ था और कमीज़ के ऊपर कंधों पे हल्के सुर्ख रंग का दुपट्टा लटक रहा था वो नसीमा की आवाज़ सुनने में महव था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि किसी ने उससे कोई बात की है हम्म सरफराज चौंक कर मुड़ा लेफ्टिनेंट सुरखरू खान अपनी बड़ी बड़ी बिलोरी आंखों से उसे देख रहा था wake up M S what's wrong दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े आँख के कोने से सरफराज ने देखा कि उसके हंसने की आवाज़ पे नसीमा को पहली बार उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ और उसने उचनती हुई नज़र सरफराज पर डाली सरफराज अपने ख्याल में इस कदर खो चुका था कि उसने तीन दूसरी लड़कियों की जानब ध्यान भी ना दिया था जो नसीमा के पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुई थी नौरीन जो किसी हद तक शुएब की चहीती थी और जिसे सबका फेरे पर सरफराज ने दूर से देखा था चुस्त और चमकीला लिबास पहने हुए थी उसके साथ एक और खुश शक्ल और ज़रा सर निकालती हुई लड़की खड़ी थी तीसरी लड़की ज़रा फासले पर खड़ी मुंह उठाए छत से लटकती झंडियों को देख रही थी उसका कद छोटा बदन मनकनी और लिबास सीधा सादा था और वो नहायत खुश खलकी से बातों के जवाब दे रही थी उसकी मामूली शक्ल सूरत और तौर तरीके से हिम्मत पाकर नौजवान लड़के एक एक करके उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे इस माहौल में उसकी खामियां खूबियों में तब्दील हो गई थी नौजवान अफसरों ने एक नज़र के अंदर दूसरी लड़कियों के मुकाबले में उस लड़की के तबके और उसकी हैसियत का तयन कर लिया था और बेखतर होकर एक एक इंच उसकी जानब खिसकते जा रहे थे सरफराज ने रुख बदलकर अपने इर्द गिर्द देखा सुरखरू खान किसी और से बातें करने में मसरूफ़ हो चुका था सरफराज ने जी खड़ा करके ख़त्म बढ़ाया और शुएब के पास जा खड़ा हुआ असलकुम नसीमा ने अपनी बात छोड़कर अपने मखसूस अंदाज में हाथ उलटकर माथे से छुआ आपका भाई अभी आया हूँ सरफराज ने घबराहट में जल्दी से जवाब दिया अभी अभी हाँ शुएब ने बात काट कर कहा अभी अभी इनका चॉपर बाहर उतरा है सरफराज हंस पड़ा मेरा मतलब है आज ही आया हूँ हमें कुछ बैकर्स ने देर करा दी कुछ ट्रैफिक ने नसीमा बोली फिर उसने सारे कमरे में नज़र दौड़ाई सब आ गए हैं क्या ख्याल है शुरू कर दिया जाए शुएब ने भी चारों तरफ निगाह डाली हाँ वो बोला ठीक नसीमा शरारत भरे लहजे में बोली अब तुम उस दरवाज़े की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ उस वक्त तक तुम मुड़कर नहीं देख सकते जब तक मैं आवाज़ ना दूँ क्यों शुएब आंखें चमका कर बोला बस ये रोल है अगर तुम मुड़े तो सारी कार्रवाई वहीं पर रोक दूंगी समझ गए ये कि नसीमा ने शुएब को दोनों बाजुओं से पकड़कर ज़ोर से घुमाया और मेज़ की जानब उसकी पुश्त कर दी शुएब कंधे उचकाकर वहीं खड़ा खड़ा अपने एक दोस्त से बातें करने लगा नौरीन नसीमा ने आवाज़ दी चलो आओ उन दोनों को जाते देखकर दूसरी दो लड़कियां भी उनके पीछे पीछे चल दी वो चारों कोने वाली तपाई के आगे दीवार बनाकर खड़ी हो गई फिर उन्होंने डब्बे के अंदर से केक निकालकर तश्तरी पे रखा और उस पर 21 मोमबत्तियां जमाईं केक को अपने पीछे छुपाए छुपाए नसीमा ने मुड़कर माचिस तलब की उसके करीब खड़े एक नौजवान ने उसे अपना लाइटर पेश कर दिया नसीमा एक मिनट तक उस सुर्ख रंग के चमकीले लाइटर को हाथ में लिए तारीफी नज़रों से देखती रही फिर पलटने से पहले उसने हंसकर नौजवान से कोई बात की सरफराज उस नौजवान अफसर को ना जानता था मगर उसके दिल में हल्की सी जलन पैदा हुई उसका जी चाहा कि उस आदमी की जगह पर वो खुद मौजूद हो मगर वो लाइटर कहाँ से लेकर आता वो तो सिगरेट भी ना पीता था उसने कमरे के पार से नसीमा के चमकते हुए सफ़ेद हमवार दांत ऐसे देखे थे जैसे उसके पास खड़ा हो फिर अचानक कमरे से एक मजमू खुशगवार हैरत की आवाज़ उठी नसीमा तीनों लड़कियों के नरगे में के की तश्तरी उठाए इंतहाई एहतियात से कदम कदम मेज़ की जानब बढ़ रही थी तीनों लड़कियां मोमबत्तियों के शोलों को हवा से महफूज रखने की खातिर अपने हाथों की ओट में रखे साथ साथ चलती आ रही थीं स्प्लेंडेड किसी ने कहा शुएब ने पलटने की कोशिश की तो उसके सामने खड़े नौजवान ने मुस्कुराते हुए उसके दोनों बाजू अपने हाथों में जकड़ लिए नसीमा ने मेज़ पर पहुँच केक की तश्तरी दरमियान में रख दी एक्सीलेंट किसी और ने कहा ऑल राइट right, नसीमा ने पुकार कर कहा Shabbu you can turn around now Shoaib मुड़ा तो हैरत और खुशी से आंखें फैलाकर मुंह खोलकर हंसा नसीमा ने उसके हाथ में छुरी पकड़ा दी नौरीन भागकर मेज़ की दूसरी जानब जा खड़ी हुई और कैमरा आँख से लगाकर तस्वीर बनाने लगी शुएब ने दो चार फूंकों में मोमबत्तियाँ बुझाईं और केक काटने लगा happy birthday to you happy birthday to you की मखसूस धुने कमरे में बुलंद हुई और तालियों के बीच चारों जानब फैल गई नसीमा ने शुएब से छुरी लेकर केक काटना शुरू किया लड़कियाँ सबको केक बांटने लगी हंसी मजाक की बातें हुईं मैस के बैरे गरम चाय से भरी चाय तानियाँ उठाए हुए लाए लोग जो एक गोल की सूरत में मेज़ के गिर जमा थे अपने अपने केक के टुकड़े लिए छोटे छोटे ग्रुपों में बट गए गुफ्तगु की बिन बनाहट बढ़कर हल्के से शोर में तब्दील हो गई जबड़े चलने के साथ साथ लोगों की झिझक के पर्दे उतरते गए शर्फी बकरे ने जो अब तक आपे में खड़ा था पर पुरजे निकालने शुरू कर दिए थे उसके ग्रुप से कहकहों की आवाज़ बुलंद हो रही थी केक के ज़रों से आरास्ता लब वाह किए लोग हंस रहे थे उनमें से एक ने कोई बात करने की खातिर कमरे की दूसरी तरफ खड़े लेफ्टिनेंट ताहिर को आवाज़ दी उनके बीच कमरे का शोर था जब दूसरी और फिर तीसरी आवाज़ पे ताहिर मुतवजह ना हुआ तो शर्फी पंजों के बल दुबक दुबक कर चलता हुआ कमरे को पार करके उसकी पुश्त पे जा खड़ा हुआ उसने ताहिर के कान से मुंह लगाकर ऐसे ज़ोर से उसे आवाज़ दी जैसे पटाखा फटा है ताहिर उछल पड़ा उसके हाथ में पकड़ी हुई चाय की प्याली छलक गई कुछ चाय उसके कपड़े पे और कुछ ज़मीन पे गिरी ताहिर सख्त तैश की हालत में मुड़ा शर्फी वो दांत पीस कर बोला you are an idiot Sharfi हंस पड़ा साथ ही उसने हथियार डाल देने के अंदाज में हाथ ऊपर उठा दिए मगर ताहिर का गुस्सा ठंडा ना हुआ एक लहजे के लिए सरफराज ने सोचा कि ताहिर अपनी प्याली में बची हुई चाय शर्फी के सर पर उंडेल देने वाला है मगर उसी वक्त किसी ने पीछे से शर्फी को बाजू से पकड़कर खींच लिया शर्फी शर्मिंदा सी हंसी चेहरे पर लिए वापस आ गया कमरे में एक मिनट खामोशी हो जाने के बाद दोबारा मामूल की गुफ्तगु शुरू हो गई दूर से शुएब गहरी सोच वाली नज़र से शर्फी को देखता रहा you know what I think फिर वो बोला सरफराज ने सवालिया नज़रों से उसे देखा I am afraid Sharfi is going to be thrown out sooner और later one day he will cross the limit फौज के पेशे में जहाँ हर कमीशन हासिल करने वाला नौजवान अफसर अपने दिल में जरनेल बनने की उमंग ही नहीं बल्कि तस्वुर में अपने आप को कम अज़ कम डिवीज़न की कमान करते हुए भी देख रहा होता है वहाँ चंद साल में ऐसे लोग भी नज़र आ जाते हैं जिनके बारे में एक कुदरती एहसास होता है कि मेजर या ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्टिनेंट कर्नल के अहदे तक पहुंचकर उन पर तरक्की के रास्ते बंद हो जाएंगे ज़रूरी नहीं होता कि ये लोग नालायक अफसर हों मगर फ़ौज के मखसूस कल्चर में किसी न किसी वजह से उनकी रफ्तार सुस्त पड़ जाती है और उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं शर्फी जिसके लिए शुएब और सरफराज के दिल में ख़ास मोहब्बत थी के बारे में यह एहसास करके दोनों के दिल भारी हो गए सरफराज ने दूसरी दीवार के साथ खड़े शर्फी को देखा जो हसब मामूल अपनी खुली तबीयत और खुश दिली के असर से आस पास के दोस्तों में हंसी और खुशी फैला रहा था ये शख्स सरफराज ने सोचा खा लखपति बिजनेस मैन बन जाए मगर सर्विस में रहने और तरक्की करने का यूनिफॉर्म का और रैंक का फ़खर उसके हाथ से निकल जाएगा जिसकी कमी वो उम्र भर पूरी ना कर सकेगा ये ख्याल करके सरफराज के दिल में गहरा अफसोस पैदा हुआ और दिल ही दिल में उसने दुआ की कि खुदा करे शुएब का अंदेशा दुरुस्त साबित ना हो उसी वक्त गोया मुस्तबिल में देखते हुए सरफराज की नज़रों में चीज़ें दूर और नज़दीक होने लगीं कमरे का माहौल बदल गया कुछ लोग बहुत दूर और कुछ लोग बिल्कुल बहुत करीब दिखाई देने लगे सरफराज के लिए यह नई बात ना थी मगर कोई दूसरा इसे तस्लीम ना करता था एक बार एकेडमी में उसने शुएब से इसका जिक्र किया था जिसने ये कहकर कि आई एम जिसने ये कहकर M S you are mad उसकी बात को झटक दिया था कई साल पहले जब वो अभी बच्चा था उसने अपने भाई से ये बात कही थी उसके भाई ने भी ये कहते हुए कि तेरा मुशाहिद कि तेरा मुशाहिदा तेज़ है मामला ख़त्म कर दिया था बचपन और लड़कपन में लंबे अरसे तक इस कैफियत के बारे में वो यही सोचता रहा था कि उसका मुशाहिदा तेज़ है मगर जवान होने तक उसे इल्म हो चुका था कि ये सिर्फ मुशाहिदे की बात ना थी एक खासुल खास वस था जो पैदाइश के वक्त उसके अंदर मौजूद था इस हकीकत से भी वो आशना था कि इस राज को वो अपने अंदर मखफी रखने पर मजबूर था कि कोई दूसरा इसे समझने बूझने से कासिर था राजधानी के इस बोझ तले एक तवील तन्हाई उसके हिस्से में आई थी जिसमें वो किसी को शरीक ना कर सकता था इसके बावजूद जब वो इस कैफियत में होता तो एक पुरसकूत हालत उस पर तारी होती वो नहायत आसूदगी से अपना हल्का फुल्का बदन उठाए खड़ा होता और उसके तमाम तरहवास एक नुक्ते पर मुजतमा होते उस कमरे के अंदर एक नुक्ता केक का एक जर्रा था जो नसीमा के दांतों में अटका हुआ था उन दोनों में चंद गज का फासला था मगर जब नसीमा बातें करती हुई हंसती तो उसके सामने वाले दांतों के दरमियान वो बारीक सा जर्रा सरफराज को ऐसी सफाई से दिखाई देता जैसे कि वो नसीमा के सामने खड़ा हो कई बार उसका जी चाहा कि वो हाथ बढ़ाकर टूथपीक के नेज़े से उस जरे को उचक ले कमरा अब एक मकनातीसी कशिश आवर मैदान की मानंद था जिसमें स्याह सुरों के छोटे छोटे झुरमट अलग अलग दिखाई दे रहे थे सरफराज अपनी तन्हा दुनिया में ठहरा इस तरह इस मंज़र को देख रहा था जैसे छत पर लटका हुआ ऊपर से सारी कार्रवाई का मुलाहजा कर रहा हो कभी कोई सर और उससे मुलहिका शक्ल एक झुरमट से कट कर गोया खिंचती हुई दूसरे झुरमट में दाखिल होती एक मेज़बान शबी नसीमा की थी जो अब केक का ज़र्रा उठाए खड़ी थी इन झुरमटों में हर कोई बातें कर रहा था मगर सरफराज की दुनिया में मुकम्मल खामोशी थी जैसे उसके कानों के पर्दे बंद हो चुके हों या उसके गिर्द एक खला का हिसार खिंचा हो जिसके अंदर वो बैक वक्त मुकीद भी हो और आज़ाद भी चंद लहजे के लिए वो गोया इस जहान जिंदा से कट गया था सरफराज की ये कैफियत गो अमूमन सिर्फ चंद लम्हों तक ही रहती मगर इसका अक्स उसके जहन पे यूं पड़ता जैसे बरसा बरस पे फैला हो आपकी बर्थडे कब है दूर से एक आवाज़ आती हुई मालूम हुई इस आवाज़ में हंसी की खनक पड़ी थी और दो दांतों के दरमियान केक का एक जर्रा चमक रहा था सरफराज उन दांतों की हैयत में महफ था हम्म, वो चौंका ओहो वो हंसा मेरी बर्थडे जवाब में गो एक लम्हे का वक्फा था मगर इस तवक़ुफ़ ने नसीमा के चेहरे पे हैरानी की परछाई फैला दी जी वो बोली आपकी बर्थडे अगस्त में है बड़ा अच्छा मौसम चुना आपने पैदाइश का सरफराज की आंखों के सामने खिलखिलाती हुई हंसी थी जिसके इर्ताश में वो ज़रा लहरा रहा था सरफराज उस पर से नज़रें हटाने में कामयाब ना हो रहा था उसे एहसास था कि अगर वो इसी तरह उस पर नज़रें जमाए खड़ा रहा तो नसीमा बिदक जाएगी बारिशों का मौसम है वो बोला देहात में तो हर शय सरसब्ज हो जाती है मेरा जी चाहता है कि किसी गांव में कुछ दिन गुजारूं कई साल हो गए हैं मैं अपने आबाई गांव भी नहीं गई आप हमारे गांव आ जाएं। सचमुच यू आर मोस्ट वेलकम वो जर्रा अब चट्टान बन चुका था जिसके मुंह बोझ तले सरफराज पिसा जा रहा था वो अपनी कुत इरादी के पूरे ज़ोर से अपने हाथ को काबू में रखे हुए था जो बढ़कर उस जर्रे को उड़स लेना चाहता था इस बेबाक जर्रे ने दांतों की हमवार शक्ल को बिगाड़ कर रख दिया था तो आप अपनी बर्थडे पर हमें इनवाइट करेंगे ज़रूर अभी से इनविटेशन है तेरह अगस्त डायरी में नोट कर लें गो इसमें अभी दस महीने हैं दस माह गुजरने में कौन सी देर लगती है अब उसके लिए अपने आप को रोकना बर्दाश्त से बाहर हो रहा था उसने सोचा कि ज़बान से बोलकर कहने में क्या हर्ज है आपके दांत में सरफराज ने दिल ही दिल में कहने की मश्क शुरू कर दी गो जबान से एक लफ्ज़ ना निकला था मगर दिल की आवाज़ से उसे अंदाज़ा था कि उसका लहजा मुनासिब हद तक हल्का फुल्का ना था सरसरी होना चाहिए ना बहुत ऊंचा ना नीचा जैसे कोई कह रहा हो कि आपकी मर्ज़ी निकालें या ना निकालें वो लहजा और आवाज़ बराबर करने की कोशिश में हल्का सा खांसा हलक से कनकारने की जो आवाज़ निकली वो उसके कानों में आने लगी आवाज़ दुरुस्त ना थी इन सब बातों से पहले सरफराज ने सोचा वहाँ से नज़र हटाना ज़रूरी था इस ख्याल के आते ही अचानक उसे ये काम आसान मालूम होने लगा उसने जल्दी से दाएं और बाएं मुड़कर कमरे पर नज़र डाली इसके साथ ही गोया तलिसम टूट गया आप आज रात इधर ही रुकेंगे ना नसीमा ने पूछा जी इरादा तो है सरफराज ने कहा ठीक है फिर बात होगी वो अलविदाई हंसी हंसकर चली गई केक का ज़र्रा अभी तक वहीं अटका था जिसकी उसे खबर भी ना थी जैसे सरफराज का दिल जिसकी कैफियत का उसे इल्म तक ना था मगर जिस पे आहिस्ता आहिस्ता उसका कब्ज़ा होता जा रहा था घर भर में तारीकी थी सिवाय एक शुएब के कमरे के जिसमें चार लड़के बैठे ताश खेल रहे थे आसिफ गोल्ड और शर्फी दोनों को आसिफ की कार पे जो उसके सनतकार बाप ने उसे खरीद कर दे रखी थी रातों रात मुल्तान पहुंचना था जहां दोनों की पोस्टिंग थी मगर शर्फी का इसरार था यार ज़िंदगी का क्या पता रवानगी से पहले ताश का एक राउंड हो जाए तीन घंटे के अंदर शर्फी अपनी सारी नकदी हार चुका था शोकी ने शर्त के सौ रुपये देने हैं वो बोला वो लगाता हूँ अरे जा आसिफ ने कहा बांडे से बाल फूर के रेगिस्तान में कौन जाकर वसूल करेगा दे देगा ना दिया तो कैप्टन दिलावर लेकर देगा कैप्टन दिलावर से कौन मांगेगा अगले महीने रीयूनियन है तुझे पैसों से वास्ता है ना मिल जाएंगे नो वे आसिफ ने सर हिलाकर कहा तो ले फिर शर्फी ने अपनी घड़ी उतारकर मेज़ पे रख दी पिकेट अप शर्फू शुएब ने कहा यह मैस नहीं मेरा घर है पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं चलेगी क्या हर्ज है बड़ा बड़ा नवाब सल्तनत हार जाता है हारने में कौन सी बेजती की बात है शायरों ने तो उसे जिंदा जाविदा बना दिया है जिंदा जावेद सरफराज ने तसी की जिंदा जाविदा शर्फी ने इसरार किया वॉन्ट ए बैट शर्फी तू अनपढ़ का अनपढ़ ही रहा शुएब ने कहा आसिफ ने घड़ी उठाकर आगे बढ़ाई और दूसरे हाथ की उंगली हिलाकर शर्फी को उठने का इशारा किया कम ऑन गेट अप दो बज गए हैं छः बजे परेड पर पहुंचना है याद है लो लेता जिंदा रहे शर्फी कहा दो घंटे में पहुंच जाएंगे आसिफ की जर्द रंग फॉक्स वैगन लवलिता जिंदा रहे शर्फी ने कहा दो घंटे में पहुंच जाएंगे आसिफ की जर्द रंग फॉक्स वैगन लवलिता के नाम से मशहूर थी तुझे स्टेरिंग को हाथ नहीं लगाने दूंगा आसिफ ने कहा आती दफ़ा तूने मेरा खून खुश कर दिया था चल उठ क्यों क्या हुआ था शुएब ने दरियाफ्त किया क्यों क्या हुआ था शुएब ने दरियाफ्त किया इधर का उधर जलाता हुआ आया है और क्या हुआ रेसिंग ड्राइवर का तुखम भई तो पची है ना सरफराज ने कहा निशाना इधर मारता है गोला कहीं और गिरता है शर्फी कलाई पे घड़ी बांधकर बादिल नखास्ता उठ खड़ा हुआ शर्फी सरफराज ने कहा जिंदा जावेदा शायर का कलाम तो सुनाते जाओ दोनों जहां शर्फी ने मेज़ पे फैले हुए पत्तों की जानब उंगली से इशारा करके कहा तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई बाकी का शेर चारों के कह कहू में दब गया बैरूनी बरामदे के छोटे से बल्ब की रोशनी में उन्होंने अलविदा कही और लवलिता फुर्र करके गीली रात में सफ़ेद धुआं छोड़ती हुई तारीकी में गायब हो गई शुएब और सरफराज जेबों में हाथ दिए कुछ देर तक वहीं खड़े लॉन की नीम तारीकी में देखते रहे जिसकी घास अक्टूबर की ओस में कहीं कहीं से चमक रही थी तुम किस वक्त पैदा हुए थे सरफराज ने पूछा याद नहीं रहा शुएब ने जवाब दिया जहन पर जोर देकर सोचो की आवाज़ के साथ एसोसिएट करो फिर घड़ी की शक्ल याद करो और फिर याद करके बताओ सुइयाँ किस पोजीशन में थीं मैं खुद हिसाब लगा लूँगा शायद सुबह के आठ बजे थे शुएब संजीदगी से बोला गो अब तुम 21 बरस और 18 घंटे के हो चुके हो हाँ शुएब ने सोए हुए लहजे में कहा तखमीना इस लंबे अरसे में तुमने क्या काम किया कमीशन पाई है मैं इसे कोई ऐसा काम नहीं समझता एमएस तो डिसलायल है नो जस्ट इजी मैं तो सोने जा रहा हूँ शुएब ने कहा मैं भी अभी आ रहा हूँ तुम चलो सरफराज बरामदे से निकलकर लंबे मुस्ततील लॉन में दाखिल हुआ और टहलता हुआ उसके वस तक चला गया वहाँ रुककर वो पलटा और बेख्याली से मकान को देखने लगा नसीमा का कमरा मकान के अकब की जानब था वो इस वक्त क्या कर रही होगी सरफराज ने अपने दिल से सवाल किया फिर खुद ही जवाब दिया गहरी नींद सो रही होगी क्या सोने से पहले उसने दांत साफ किए होंगे ये कोई ऐसा ला यानी सवाल ना था सरफराज पे सिरा सहमगी तारी थी वो कैसे इन लोगों को उस दकियानोसी गांव और कच्चे घर में ले जाएगा जहां ढंग का गुसल खाना भी ना था मैच से वापसी पर नसीमा ने अपने भाई से सरफराज की दावत का जिक्र भी कर दिया था बच्चू अब तो बुलाना ही पड़ेगा शुएब ने कहा था बचकर नहीं जा सकते कोई बहाना नहीं चलेगा सरफराज ने अंदाजे से दस महीने का जिक्र कर दिया था अब सही वक्त का हिसाब लगाने के लिए उसने उंगलियों पे शुमार करना शुरू किया एक दो तीन उसके पास नौ महीने और नौ दिन का अरसा था सिर्फ इतने वक्त में वो कैसे अपनी ज़िंदगी का नक्शा बदल सकता था एक मायूस सा ख्याल उसके दिल में आया कि वह अपनी सालगिरह शहर के किसी होटल में मुनद कर सकता था नाला खुशी से बिल अदा कर देगा मगर नसीमा ने तो ख़ास तौर पर उसके गांव आने की ख्वाहिश का इजहार किया था कम वक्त गाँव का जिक्र कैसे आया था सरफराज का जहन नसीमा के साथ होने वाली अपनी गुफ्तगु को टटोलता हुआ पीछे की जानब चलने लगा और एक मुकाम पर जाकर रुक गया बारिश का मौसम है उसने खुद कहा था देहात में तो हर शह सर सब्ज हो जाती है गुस्से में सरफराज ने एक चपत अपनी रान पे मारी ये कहने की क्या ज़रूरत थी ये क्यों नहीं कहा कि वहाँ तो घुटने घुटने कीचड़ हो जाता है जिसके अंदर चलना महाल होता है सरफराज को यूं महसूस हो रहा था जैसे अनकरीब उसके बदन का लिबास छिन जाने वाला था और वह दुनिया के सामने नंगा हो जाएगा इसी हालत में वो बिस्तर पर पहुंचकर अंधेरे में लेटा रहा देर तक उसे नींद ना आई पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ से उठकर कहाँ पे आ पहुँचा था और इस मुकाम पे वो अपनी ज़ात तक महदूद था उसके साथ कोई काफिला कोई कबीला चलकर ना आया था एक उसका भाई था जिसने अपनी मोहब्बत से चार पैसे कमा लिए थे मगर कोई आला अहदेदार कोई जागीरदार कोई नामवर सियासतदान उसकी पुश्त पे ना था यहाँ तक कि उसके आबाई घर का दरवाज़ा भी किसी के आगे खोलने के काबिल ना था आखिर नींद के गलबे के अंदर एक बेताब फरियाद करता हुआ सवाल उसके दिमाग में उभरा मैंने नसीमा के आगे अपने दिल को इतनी ढील क्यों दी थी यार एक काम तो करना जाते जाते सरफराज ने शुएब से कहा मेरा एक कज़न है अब्बास बासा शुएब ने हंसकर पूछा डंडी वाला बासा हाँ सरफराज हंसा उसे पुलिस में भर्ती करवाना है क्यों जमींदारे से भाग गया है वो तो उसने देर हुई छोड़ दिया कुछ गलत कामों में पड़ गया था ब्रिगेडियर साहब के कोई कांटेक्ट हैं ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ शुएब ने कहा सुरखरू से कहो तुम खुद भी कह सकते हो उसका भाई एएसपी लगा हुआ है कहाँ यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर में यार तुम ही उससे बात करना तुम्हारी उस उजट पठान के साथ ज़्यादा दोस्ती है आदमी काम का है ठीक है मैं बात कर लूँगा भूलना नहीं it's important don't worry I will let you know Sarfaraz वापस अपनी यूनिट में पहुँचा तो उसके दिल में एक ही ख्याल था गो दो हफ्ते के बाद वो एक दिन की छुट्टी पे घर जाने वाला था मगर कैफियत ये थी कि उस वक्त तक इंतज़ार करना उसके लिए महाल हो चुका था आते ही वो एजाज को ख़त लिखने बैठ गया नौ दस महीने में उसने लिखा उसके कुछ दोस्त अहबाब मेहमान बनकर गांव आने वाले थे घर की हालत ठीक नहीं थी अगर सारा घर पक्का नहीं बन सकता तो कम अज़ कम सहन और बाहर की दीवारों पर ईंटें चुनवाई जानी चाहिए मगर सबसे ज़रूरी बात यह थी कि सहन वाला कमरा गिरा कर उसकी जगह पे एक पक्का कमरा बनाया जाए जिसके साथ एक गुसल खाना हो गुसल खाने में सारे इंतजाम होने चाहिए नहाने के अलावा मुंह हाथ धोने दांतों पर ब्रश वगैरह करने के लिए वॉश बेसन और सामने दीवार पर शीशा नस्ब होना चाहिए सब बातें तफसील से लिखकर सरफराज ने मज़ीद कहा कि बाकी आइंदा और ख़त को उसी रोज़ रात की डाक में भेज दिया दो हफ्ते के बाद वो एक रोज़ की स्टेशन लीव पर गांव गया सरफराज मैंने आते ही तुझसे कह दिया था कि तेरे ख़त के मुताबिक सब काम हो जाएगा दोहरा कर कहने की क्या ज़रूरत है एजाज ने कहा लाला सरफराज हंसकर बोला तुझे पता है ना कि तुम पैसे को कितने ज़ोर से बांध कर रखते हो पैसा खेत के चूहे की तरह होता है एजाज ने कहा पकड़ के ना रखो तो दुम छुड़ा कर बिल में गायब हो जाता है शुक्र कर कि अकेली जान हूँ मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ घर बार चलाओगे तो पता चल जाएगा ये कागज़ कैसे लेकर आओगे ये कागज़ कैसा लेकर आए हो मैंने कुछ ठेकेदारों से पूछ गिछ करके काम का तखमीना लगवाया है सरफराज ठीक ही तो कहता है सकीना बोली अफसरों के मेल जोल वाले भी अफसर ही होते हैं उठक बैठक के लिए जगह मुनासिब होनी चाहिए इसमें सारों की इज्जत है तो क्या मुझको इस बात की समझ नहीं एजाज ने कहा अब तू भी मुझे सबक पढ़ाने लगी है तुम दोनों के हाथ में काम दे दूँ तो कबाड़ा करके रख दो ये जो फौज के ठेकेदारों से हिसाब किताब करवा के लाया है अपनी तरफ से बड़ा तीर मारा है इतनी रकम से तो दो मकान खड़े हो जाते हैं ये लोग लुटेरे हैं कोई अनजान उनके हत्थे चढ़ जाए तो जेब खाली कर देते हैं ये काम मेरे ऊपर छोड़ दे सरफराज दस महीने तो बड़ी दूर की बात है देखते देखते मुकम्मल करवा दूंगा अच्छा ये कौन से मेहमान हैं जो आ रहे हैं एक ही है सरफराज ने जवाब दिया मेरा एक दोस्त है बस एक शायद उसके साथ सरफराज का दिल उछला कोई और भी आ जाए तेरा दोस्त भी लेफ्टिनेंट है हाँ लाला शुएब पासिंग आउट पर तुमसे मिला तो था शुएब कुछ कुछ याद पड़ता है वो वो तो नहीं जिसका बड़ी बड़ी मूछों वाला बर्गेडियर बाप भी आया हुआ था ठीक है सौ दफ़ा आए मेरा और तेरा घर तेरे दोस्तों का अपना घर है एजाज फ़खर से बोला फ़िक्र ना करो उनके शायान शान मकान तैयार होगा कहोगे तो सारी गली पक्की करवा दूंगा सर्दियां निकल जाएं तो शुरू करवाता हूँ क्यों सरफराज ने पूछा तुझे तामीराती काम का तजर्बा नहीं सीमेंट और ईंट को धूप चाहिए होती है कड़कती हुई धूप फिर जाके ईंट अपनी असली जगह पर बैठती है अप्रैल में शुरू करा के मई में ख़त्म करा दूंगा बारिशों से पहले सब कुछ सूख जाएगा तेरी सालगिरह तो अगस्त में है ना बड़ा वक्त पड़ा है तसल्ली से रह बस ये सर्दियों के महीने काम का जोर है ये भी निकल जाएगा कौन से काम का सरफराज ने पूछा अपना बाहर का काम है एजाज ने बात टालते हुए कहा तू फिक्र ना कर चाहे तो सारी पलटन को ले आना बाहर का काम बाहर का काम सकीना बुड़बुड़ाने लगी ज़रा अपने लाले से पूछ बाहर का क्या काम है कोई ज़मीन का काम है कारोबार का काम है चल तू चुप कर एजाज ने कहा चुप क्यों करूं? गुड़ की मंडी में मंदा आ गया है और उसे बाहर का काम पड़ा हुआ है मेरी बात को तो ये बैठा बैठा गंवा देता है सरफराज ने यह देखा तो बात बदलने को कहा कुछ गली की नाली का भी इंतज़ाम हो जाए तो बेहतर है हो जाएगा हो जाएगा तू तो ऐसे फिक्र कर रहा है जैसे कल ही तेरे मेहमान आने वाले हैं